फिर वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही व्यक्ति तो जितना आज्ञा पालन करता है उतने अंश में अधिकारी के रूप में उसको विद्या दे देगा उदाहरण के रूप में ले लीजिए आप आपने ये बात मान ली कि इस सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर है और इस सृष्टि के समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर है मैं नहीं हूं दूसरे भी नहीं है सब कुछ ईश्वर का आपने स्वीकार किया और सब कुछ स्वीकार करके अपना स्वामित्व हटा दिया एक आपने पुत्रेशना लोकेशना वितेशना छोड़ दी और ईश्वर ही के लिए ललायित हैं आप ईश्वर ही के लिए ललायित हैं आप इंद्रियों के भोग आपने छोड़ दिए आपको कुछ समझ में आया जब वो ऐसी स्थिति में आएगा तो उस मात्रा में ईश्वर को समाधि लगवाने का जान देगा आपने इतनी योग्यता अपनी बनाई वो पूर्व जन्म भी उसमें काम कर रहा है जो पूर्व जन्म में उसने विद्याएं पढ़ी थी वो संस्कार उसके काम कर रहे हैं वो भी साथ रहेंगे वो भी सहयोगी हैं वो विद्या उसकी संस्कार के बल पर उद्बुद्ध हो जाती है पहले की विद्या संस्कार दोषात है विद्या और संस्कार उचित होने पर गुण विद्या उत्पन्न होती है ये नियम है वो विद्या उत्पन्न होगी एक अंश एक अंश ईश्वर देगा दो और एक अंश ऐसा रहेगा जो मनुष्यों से सीखना ग्रंथों से सीखना चाहिए स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में सुनने में आया है कि जब वो वेद भाष्य करते थे हाँ। और प्रसंग समझ में नहीं आया हाँ। तो एकांत शांत कमरे में जाते और समाधि लगाकर और ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करते थे हम्म। इसी प्रकार जैसे कि स्वयं प्रसाद जी ने कहा कि वो ये भाषा का ज्ञान भी समाधि लगाकर कर लेगा मैं बताता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याकरण पढ़ा निरुक्त पढ़े याद रखना आप समझे ये योग्यता उन्होंने बनाई अपनी स्वामी जी ने अब मंत्र का अर्थ समझने में कठिनाई आ रही है भाषा विज्ञान उसने प्राप्त किया व्याकरण भाषा विज्ञान प्राप्त किया महर्षि ने उसके पीछे वो ईश्वर से समाधि लगा के प्रश्न पूछता है और वो मांगता है तो ईश्वर सहायता देगा उसको ये नहीं कि उसने ए, आ, इ, इ, उ, उ, वो सिखाएगा ऐसे देता है वो ये प्रश्न जो आता है जैसे हम हमने भाषा पढ़ी भाषा आई व्याकरण पढ़ा निरुक्त पढ़ा ये पढ़े पढ़ने के पीछे भी वो अर्थ नहीं लग रहा है मंत्र का अर्थ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा एडी से चोटी तक का जोर लगाया हमने अपने कर्तव्य का ही पालन कर लिया फिर ईश्वर में ध्यान समाधि लगा के फिर ईश्वर से मांग की तो एक सीमा में रहता है ईश्वर का ज्ञान देना उसके नियम है वो उसमें ईश्वर सहयोग देता है मंत्र अर्थ करने में तो कहाँ चल रहे थे हम चल रहे थे जब तक व्यक्ति इन लक्ष्यों को प्रधान आचरण के रूप में नहीं बनाता तब तक सफल नहीं होता अपना भटक जाता है और न दूसरों को वो चला पाता और लक्ष्य को पक्का करने के लिए उस व्यक्ति को वर्षों तक पूरा बल लगाना पड़ता है अपने लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम रूप देना और उसको स्थिर रखना ये असाधारण कार्य है असंभव नहीं है अंतिम रूप दे देना अंतिम रूप देके उसी पर जम के चलना और फिर औरों को चलाना और ये भी समझ रखिए जो व्यक्ति अंतिम रूप न दे के नहीं चलता नहीं चलाता वो विफल है निष्फल है ये भी कसौटी सबके साथ जुड़ेगी भिन्न व्यक्तियों के विचार सुनने से भिन्न भिन्न ग्रंथों के अध्ययन से भिन्न भिन्न साथी मित्रों के साथ रहने से अपने सत्वरजतम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से अपने संस्कारों के उभार से व्यक्ति के अंदर कितने परिवर्तन होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं उनको सबको लेता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्यों को सामने रख के विचारता रहता है उनका पक्का करता रहता है कभी आपने न्याय दर्शनकार की भाषा सुनी हो चौथे अध्याय की कि तत्व ज्ञान को परिपक्व करने के लिए उसको क्या करना चाहिए याद है किसी को या नहीं वो तो बताओ संवाद के आया जो गुरु हो या विवेकी व्यक्ति हो उनके साथ में संवाद करना चाहिए और जो उसके सिद्धांत हो उसको विद्वानों के सम्मुख रखना चाहिए जो व्यक्ति अपनी मान्यता विचारधाराओं को सबके सामने रख देता है कोई भी क्यों न हो कोई संकोच नहीं कोई भय नहीं कोई डर नहीं कि मैं ये जानता मानता हूँ आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ और वो अच्छे लोगों से मिलता है संवाद करता है नीमपुर का रानी के जीत के लिए नहीं है उनका गुरु जी से संवाद करो तो अपना पक्ष मत रख देना क्या समझवाया क्या समझवाया पक्ष रखो संवाद करो वाद का प्रयोग करो गुरु जी के साथ भी उन्होंने कहा अपना पक्ष बना के बात नहीं करना उसको छोड़ देना अपना पक्ष बना के घमंड आएगा अभिमान आएगा हरानी की बात आएगी ये ये रोग लग जाते हैं पक्ष रख सकते हैं संवाद कर सकते हैं ये तो बतलाया लक्ष्य के विषय में कैसे सोचते रहना चाहिए और कैसे कैसे उसको अपनी मान्यताएं सुरक्षित रखनी चाहिए कैसे कैसे दूसरे लक्ष्यों को न बनने देना लौकिक लक्ष्य बनते हैं जो व्यक्ति के उनको न बनने देना कहीं मान है कहीं धन है कहीं भोग है उन लक्ष्यों को बनने नहीं देना और इन लक्ष्यों को बनाया रखना ये सतत करना पड़ेगा अब एक प्रयोग मानसिक है मानसिक प्रयोग जो चलते हैं उनको प्रयोग रूप में आप देख सकते हैं और जितना आपकी योग्यता उतना देख सकते हैं एक स्थिति इतनी ऊंची होती है मानसिक कि वो व्यक्ति स्वतः उस विषय की ओर प्रवृत्त होता ही नहीं कल्पना करते हैं चोरी करने की बात ले लो सुंदर रूप देखने की बात ले लो कोई भी विषय क्यों न हो वो उसकी ओर प्रवृत्त ही नहीं होता वो जानता है कि इसका परिणाम दुख है उसको कोई संदेह नहीं है उदाहरण के रूप में आप और हम सब जानते हैं कि अग्नि जला देती है बठेक में अग्नि जल रही हो चूल्हे में जल रही हो तो हमको कई व्यक्ति पकड़ के उसमें डालना चाहे तो भी हमें हो सकता है भाग जाए क्या समझ में आया पकड़ के डाल दे तो भी बचने तो भी वो प्रयत्न करता है बच भी जाता है या नहीं देखा आपने इसका अर्थ ये वह अग्नि राख बना देगी उसको जला के अत्यंत दुख होगा ऐसी स्थिति बहुत ऊंचे व्यक्ति की रहती है जो इतना ज्ञान विज्ञान परिपक्व कर लेता है वो उल्टे कामों की ओर विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होता अब क्या समझ में आया आया समझ में नहीं आया हाँ वो स्वतः प्रवृत्त नहीं होता एक स्थिति दूसरी स्थिति इससे कुछ कच्ची अवस्था होगी इतनी पक्की नहीं है तो कच्ची अवस्था में व्यक्ति अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर विषय की ओर प्रवृत्त होने में संकोच करता है क्या समझ में आया विशेष सामने आया पर वो झट देख लेता है कि ये अच्छा नहीं है यद्यपि उसकी इतनी दृढ़ अवस्था तो नहीं है जैसे मैंने पहले बताई पर इसकी अच्छी स्थिति है तो ये प्रवृत्त होने से पहले ही अपने मन को चलने नहीं देता यदि ये थोड़ा सा सावधान हो जाए तो गति हो सकती है क्या समझे आप कुछ अंतर समझ में आता नहीं आता हाँ देखिए आ रहा है समझ में जिसकी परिपक्व अवस्था है हाँ वह तो विषय सामने आने पर भी प्रवृत्त नहीं होता हाँ किंतु उससे कुछ कच्ची अवस्था वाला विषय आने पर संशय उत्पन्न कर लेगा तो वहाँ पर वो प्रवृत्त होने की स्थिति में अपने आप को एक और है संशय से पहले की स्थिति है ये संशय से ऊंची है ये तो इसकी स्थिति पक्की नहीं हुई परंतु इतना सावधान है ये ये व्यक्ति और ज्ञान अच्छा हो चुका है ये अपने मन को प्रवृत्ति ही नहीं होने देता यदि असावधान हो जाए तो फिर प्रवृत्ति पैदा हो सकती असावधान हो जाए सावधान होगा तो प्रवृत्ति उत्पन्न होने ही नहीं देगा पहले से ही एक ये दूसरी है तीसरी तीसरी में क्या होता है ये अपने मन को अपने विचारों अपनी इच्छा को विषय में प्रवृत्त कर देता है ये करने पा गया आदमी प्रवृत्त इच्छा प्रवृत्ति उत्पन्न की उत्पन्न करते ही तत्काल रोक देता अब क्या अंतर समझ में आया नहीं आया पहले ने तो प्रवृत्ति उत्पन्न ही नहीं होने दी और सावधान इसने प्रवृत्ति इच्छा पैदा कर दी करते ही तत्काल रोक दी आपने कभी मोड़ों पर देखी होंगी ना कार गाड़ियां चलती नहीं देखी आपने नहीं देखा कई बार वो व्यक्ति इतना सावधान था झटका दिया तो वहीं रुक गया <laughs> वो कार हो कोई मोड़ चौड़ आया आते हैं ना साधक जी हमने देखा होगा वो चला ही रहा था और झट पता लगा वहां का बाहर चलते चलते रोक दिया था हाँ। और इधर मुड़ने लगा पता चला बोर्ड का तो तुरंत रोक करके रास्ते का ऐसा रोक दिया अथवा दूसरा है उससे बचने के लिए रोक दिया दोनों में अपनी को रोकना और दूसरे की आ जाए तो भी अपनी को रोकना ये चलाते ही रोकने की स्थिति है हाँ गाड़ी स्पीड में होगी तुरंत रोक देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगी हम्म, हम्म। ऐसे यदि मन को भी हम मान ले तो मैं मानता हूँ मन की आपने इतनी तेज कर दी तो आपकी वही गति होगी जो गाड़ी वाली है <laughs> गाड़ी वाली गति इतनी है कि वो रोक नहीं सकता मन में काम वासना इतनी भड़का दी आपने तो आप भी मन को नहीं रोक सकेंगे काम वासना हम पड़ जाएंगे ये भी याद रखना नहीं रोक सकेंगे आप नहीं आ समझ में या फिर हूं <laughs> काम वासना इतनी भड़का दी जैसे उसने गाड़ी की गति भड़काई है तो आप नहीं रोक सकेंगे क्रोध की ले लो ना भाई भाई कई बार सामान्य बात है भाई भाई की तनातनी होगी और उसने आपस में और उसने क्रोध इतना भड़क गया भाइयों का वो गोली से मार देते भाई को देखा होगा वो गति उसकी होगी नहीं देखा आपने लोक में भाई भाई को गोली से उड़ा देता है आ गया समझ में क्रोध का उदाहरण है काम का भी यही होगा आया समझो नहीं यार अब आगे बढ़ जाइए अब क्या हुआ कि उसने तत्काल नहीं रोका उस विषय को ग्रहण कर लिया इच्छा कर ली कि इसको प्राप्त करो पता चला मैंने गलत कार्य कर, कर दिया ये अच्छा काम नहीं है तो फिर उसने रोका पहले तो इच्छा कर ली प्राप्त करो और फिर कहा यह गलत ग्रहण हो गया गलत विषय आ गया अच्छा नहीं मन में तो उसने फिर क्या किया फिर दो स्थितियां उसने उखाड़ के उस विचारधारा को और फेंक दिया टक्कर लेकर के धक्का देते देते देते देते उखाड़ ही दिया उसने ये तत्काल उखाड़ा यदि उसने एक सेकंड रख लिया मन में या दो सेकंड एक मिनट रख लिया तो फिर अधिकार से बाहर हो जाएगा ये विज्ञान समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये वो चित्र है जो आपका हमारा जन्म रहता है ज्यो का ये कल्पना नहीं है कृत्रिमता नहीं है इसमें लेश भी वो मानव का चित्र है जो रोज उसके दिन में रहता है आपको शंका हो तो पूछ सकते हैं वो ज्यों का जो चित्र है यदि उसने एक सेकंड रख लिया अपने मन में विचार को तो बड़ा गंभीर हो जाएगा बड़ी कठिनाई दो सेकंड रख लिया आगे रख लिया तो आप जोर लगाइए पूरा वो मन से नहीं निकलेगा जितना जितना समय व्यतीत होता जाएगा वो आपको जकड़ता चला जाएगा आपको अधीन बनाता चला जाएगा और इतना ही नहीं आगे युद्ध करते करते उसके साथ विचार के साथ आप उसको बाहर व्यापार के रूप में व्यवहार के रूप से रोक सकें रोक सक देना ये स्थिति एक रहती है यदि भी अंदर फैल गया है बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे पर इतना स्तर आपने अवश्य बनाया रखा कि इसको बाहर नहीं निकलने देना है बाहर पानी में नहीं आने देना है <laughs> ये कहो झगड़े में नहीं आने देना है मन में रोके हुए ये स्थिति है दूसरी स्थिति बताता हूं वो कालांतर में मन में नहीं रोक पाता घंटों के पीछे मन में नहीं रोक पा रहा तो वो सीधा झगड़ा लड़ाई जो करनी है वो कर ही डालेगा तो आपने क्या अध्ययन किया बताओ कहां से चले थे आप जिसका ज्ञान विज्ञान इतना परिपक्व हो गया है वो स्वतः प्रवृत्त नहीं होगा जैसे आग में हाथ डालने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता जिसका इतना पक्का नहीं हुआ है अभी पक्का तो है पर इतना पक्का नहीं है वो व्यक्ति प्रवृत्ति होने से पहले ही रोक देता यदि हो जाए होने की संभावना वो रोक देता है और इतना सावधान रहता है चलने से पहले ही वो देखता है कि मेरी प्रवृत्ति हो सकती है तो वो झट रोक देता है ये दूसरी स्थिति है तीसरी स्थिति है कि उसने पहले मन को चला दिया चलाते ही रोका उसने तो रोकने में समर्थ हो गया उसने रोक दिया ये तीसरी स्थिति है और चौथी में वो ढीलापन कुछ सेकेंड रुक गया उसका विचार क्रोध का विचार तो वो एक सेकंड दो सेकंड में बढ़ता चला जाएगा और इतना उग्र हो जाएगा उसकी दो धाराएं रहेंगी इतना उग्र हो जाना क्रोधित के झगड़ा ही कर बैठना एक और क्रोध तो रहना अंदर पर बाहर झगड़ा नहीं होने देना वाणी में हाथ पैर का झगड़ा नहीं होने देना ये दूसरी स्थिति है तो ये धाराएं ये मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति का है और काम क्रोध लोभ मोह के साथ संबद्ध रहता है आप इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं और जो इस विज्ञान को जानता है और इसको रोकने का प्रयत्न करता है वो इसमें जीत जाता है वो उसमें सफल होता है और इतना जो सावधान नहीं इतने साधन जो नहीं जुटाता वो व्यापार व्यवहार में उस चीज को उतार देता है वो धरती पर वो बातें आ जाती है और व्यक्ति विफल हो जाता है ये विफलता की स्थिति है अब विराम 有。 उचित व्यवहार व्यक्ति को अच्छे प्रकार से सीख लेना चाहिए और उस व्यवहार की सीमाएं पृथ्वी से लेकर के ईश्वर पर्यंत जाती हैं क्या समझ में आया मनुष्य के व्यवहार की सीमाएं पृथ्वी से लेकर के ईश्वर पर्यंत जाती हैं पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों के स्वरूप को जान करके उनके साथ उचित व्यवहार करना उनका उचित उपयोग में ले आना ये उत्तम व्यवहार उचित व्यवहार है दूसरी बात पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कैसे करना चाहिए इसको अच्छे प्रकार से जान लिया जाता है तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है अन्यथा विफल होता है तीसरी बात उपासना की योगाभ्यास की ध्यान जप की विधि उपासना को यदि ठीक समझ करके उसको उचित रीति से प्रयोग में लाया जाता है तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है उपासना को न समझ के उचित प्रयोग में नहीं लाया जाता तो व्यक्ति का जीवन विफल हो जाता है इस वस्तु का मूल्य व्यक्ति को नहीं देना पड़ता या अल्प देना पड़ता है उस वस्तु का मूल्य व्यक्ति प्राय कम समझता है क्या समझ में आया साधक जी जिस वस्तु का मूल्य अल्प देता है या, या दूसरी असावधान रहे का मूल्य कम देता है दूसरी बात क्या क्षमता हाँ जी जो तो वस्तु बिना मूल्य मिलती है या अल्प मूल्य से मिलती है उसकी कीमत प्राय व्यक्ति नहीं समझता हाँ और जिस वस्तु का मूल्य अधिक देना पड़ता है अधिक देना पड़ता है बड़ी कठिनाई से मिलती है उस वस्तु का मूल्य प्राय व्यक्ति अधिक समझता है या है दुनिया में एकाध व्यक्ति को छोड़ दो लगभग ये दिमाग विश्व में होता है इसको अपने व्यवहार के ऊपर लागू करो आपको ये विद्या दर्शनों की विद्या वेद की विद्या उपनिषदों की विद्या महर्षि के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं सिखाए जाते हैं योग विद्या सिखाई जाती है सुनाई जाती है अब यदि आपको इसका मूल्य देना पड़ जाए जितना इसका मूल्य हम कहें और बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो तो आप इसका मूल्य अधिक समझ या नहीं होगा ऐसा इस विद्या की प्राप्ति में आपको यदि हम्म, क्या मूल्य देना पड़े और कठिनाई से प्राप्त हो तो पता बहुत मूल्य समझेंगे और मूल्य देना नहीं पड़े और सरलता से मिल जाए तो बहुत नहीं मूल्य समझना या कम मूल्य समझना ऐसा स्वभाव से साधारण लोगों का दिमाग काम करता है प्राय या नहीं करता आपका भी दिमाग इसी कोटि में रहेगा जब तक आप विशेषज्ञ नहीं बन जाते और बुद्धिमान व्यक्ति जो वस्तु मूल्यवान है उसका मूल्य उसको नहीं देना पड़ता और उसमें कठिनाई भी नहीं पड़ती उसका मूल्य बहुत अधिक समझता है बुद्धिमान अंतर देखिए आप बुद्धिमान है आप बेसमझ है नहीं आया समझ रणवीर जी नहीं आया समझ है आपको आया समझ में ऊंचा बोला करो हाँ जी समझ में आ गया बोलिए जो बिना सायास और बिना मूल्य मिलता है बुद्धिमान व्यक्ति उसका मूल्य उसकी कीमत सबसे ज्यादा समझता है अधिक समझता है उचित समझता है उसको बिना किसी मूल्य के वस्तु मिल गई और थोड़े ही परिश्रम से या बिना परिश्रम के मिल गई बुद्धिमान व्यक्ति उसका मूल्य बहुत समझता है उचित समझता है और जो बुद्धिमान नहीं है वो उल्टा करता है जैसे पहले बताया माता जी आ गई समझ में ये तो मोटी सी बात है वैसे तो और व्यवहार में उतारो तो बड़ी गंभीर है व्यवहार में उतारो तो बड़ी गंभीर है बुद्धि से पकड़ो तो पकड़ने में इतनी कठिनाई नहीं पड़ेगी अब अपने जीवन को साथ जोड़ो आपको जो विद्या पढ़ाई जाती है संस्कृत भाषा सांख्य योग मीमांसा आदि दर्शन उपनिषद वेद और क्रियात्मक योग सिखाया जाता है आपके सभी प्रबंध अच्छे प्रकार से किए जाते हैं खाने पीने उठने बैठने भवन बिजली आदि और इस स्थिति में आप यदि बुद्धिमान है तो इसका बहुत मूल्य समझते हैं और मूल्य समझता ही समझता नहीं उसके मूल्य को चुकाने का प्रयास करता है चुकाने का ही नहीं जितना मूल्य उसका वो मानता है उसे अधिक देने का प्रयास करता है ये बुद्धिमान धार्मिक व्यक्ति की स्थिति है समझ में आया नहीं आ रहा हम्म? एक व्यक्ति किसी को एक रुपया देता है बस चलने वाली है एक रुपया उसके पास कम है या नहीं है तो उसने कहा मेरे पास रुपया ही नहीं है क्या करूं उसने एक रुपया दे दिया उसको जिसने एक रुपया दिया उसको वो व्यक्ति मन में क्या सोचता है इसको मैं दो तीन रुपये दूंगा या देने चाहिए एक स्थिति है और प्रयास करता है इसका दुगुना या डेढ़ा सवाया वो देने की योजना बनाता है और जब तक नहीं कुछ कर लेता तब तक उसको शांति नहीं मिलती और दूसरा व्यक्ति <laughs> उसको उसने दे दिया उसने दे दिया इसके पीछे यही नहीं देखता किसने दिया क्यों दिया क्या है उसके अंदर कोई अंदर भावना विचार नहीं है ये उल्टे व्यक्तियों का धर्म या व्यवहार कर्म उल्टों का ये अच्छे व्यक्तियों का है एक बस अड्डे पर रोहतक के बस अड्डे पर बसें चल रही थी एक माताजी दौड़ धूप कर रही थी और उस समय बस चलने वाली ही तो थी पता नहीं उसके पास में चार आने कम थे या आठ आने भाई इतना ही था वो कहती थी मेरे पास में चार आने आठ आने नहीं है मैं कैसे बैठू बस में क्या करूं क्या हो मैंने कहा माता जी मैं आपको देता हूँ और उसने दे दिया तो इतने गीत गाने लगी इतना कहने लगी ये है वो है बहुत मुझे प्रशंसा करने लगी नहीं समझा ये विचार आपको मोटे दिखते हैं पर मानव निर्माण में ये निश्चित रूपेण व्यक्ति के निर्माण का आधार है ये सारी विचारधारा है जब आप किसी से विद्या सीखते हैं आपका उपकार वो व्यक्ति करता है और उसके बदले में उससे अधिक सवा डेढ़ा उपकार करना नहीं चाहते तो ये याद रखना कि आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे नहीं हो सकती इतना ही नहीं आप लौकिक स्तर पर एक धार्मिक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति सुलझे हुए व्यक्ति सुखप्रद व्यक्ति भी नहीं बन सकेंगे तो एक बात तो ये समझ में आई कि प्रायः व्यक्ति जो बुद्धिमान नहीं है धार्मिक नहीं है वो जिस व्यक्ति से उस वस्तु को प्राप्त करता है यदि वो बिना मूल्य के मिलती है या थोड़े ही मूल्य से मिलती है तो उस वस्तु का मूल्य अधिक होते हुए भी वो कम समझता है अथवा नहीं समझता धार्मिक बुद्धिमान परोपकारी व्यक्ति उस वस्तु का जितना मूल्य है उतना समझता है चाहे उसका मूल्य नहीं लिया गया थोड़े परिश्रम से मिली तब भी उसका मूल्य वैसे ही देखता है विचारधारा है कि प्रायः व्यक्ति इसका मूल्य नहीं समझता कि जो वस्तु जैसी है उसका उतना मूल्य समझना और उसका वस्तु देने वाले का उपकार मानना और उसका सवा डेढ़ा भला करना चाहना इसके मूल्य को वो नहीं समझता अब क्या समझ में आया नहीं आया समझ हाँ जी बोलो जो वस्तु जैसी है को उतना ही समझना हम्म। और उससे उपकार लेते हुए उसके बदले में सवा या डेवड़ा प्रति उपकार करने की भावना जो व्यक्ति बनाता है उससे जो लाभ होता है उसको वो नहीं जानता अब तो आया होगा समझ में साधक जी आया समझ में देव भाई जी कुछ सुन रहे हो थक जाते हो सुनते सुनते कुछ याद किया करो और अपने दिन में कुछ कार्य करो निष्काम भावना से और आप ये ये तो वहां भी लागू होता आपके ऊपर आप यहाँ कुछ परोपकार के काम करते हैं गौशाला के खेती के करते हैं और बिना मूल्य के करते हैं कोई मूल्य नहीं लेते पर उसका मूल्य नहीं समझते ये कठिनाई है आप क्या समझ में भाई नहीं आया <laughs> माता जी के साख तैयार कर ली थी बनाने के लिए तैयारी और माता जी उस आग से जो उपकार होगा उसके मूल्य में तो माता जी को कोई पैसे नहीं मिल रहे और माता जी जो पैसे नहीं मिल रहे बिना मूल्य के कर रही है उसका मूल्य नहीं समझ रही इसलिए ये कठिनाई कम समझ में आया क्या हाँ जी बोलो क्या समझ में जो बदले में उपकार किया जाता है उसके लाभ को नहीं समझना करने वाला व्यक्ति उससे होने वाले लाभ को वो नहीं समझता जब नहीं समझता तो उस काम के करने में उसकी रुचि प्रवृत्ति नहीं होती कारण ये है वहां पर अब तो समझ में आया नहीं आया निष्काम कर्म कर तो रहा है परंतु उसका मूल्य नहीं समझ उसका मूल्य नहीं समझता जब मूल्य नहीं समझता तो उसकी अरुचि हो जाती है और फिर स्वार्थ से सकाम कर्म में जुट जाता है मूल्य लो इसका ये लो वो लो इतना होना चाहिए ये होना चाहिए अब उसका जो मूल्य है उस निष्काम कर्म का मूल्य वो मुख्य फल ईश्वर प्राप्ति है ईश्वर के साथ संबद्ध होना है ईश्वर के साथ मैत्री की उपलब्धि होनी है ईश्वर का जो आनंद है वो उसके बदले में मिलने वाला है ईश्वर से विज्ञान विद्या भी मिलेगी ईश्वर से आनंद भी मिलेगा और जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाएगा इसलिए आपको वो नहीं समझते अब आपको समझ में आया कुछ हां या ना बोलो हम्म? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तत्काल प्रवृत्त होता है और दूसरे के उपकार के लिए कुछों को छोड़ प्राय उस स्तर पर उसी प्रवृत्ति नहीं होती उसकी ये आप देखते हैं या नहीं देखते अपना बताओ है देखते हैं ना उसमें अपना जो स्वार्थ लाभ दिखता है उसमें जो वो लाभ समझता है वैसा दूसरे के उपकार करने में जो लाभ होता है उसको वो नहीं समझता इसलिए उससे दूर रखता है संसार की वस्तुओं का स्वामी बनने से जो उसको लाभ दिखता है और अपना स्वामित्व छोड़ने में उसको वो लाभ नहीं दिखता दोहराओ और समझो बोलो क्या समझ में आ रहा इतने असावधान बैठते हो आप अच्छा लिख रहे थे इसे लिखने में कुछ असावधानी होती है अब क्या हाँ जी क्या किसके समझ मारा संसार में जो वस्तु को अपनाने में जो लाभ होता है संसार के वस्तु से अपना स्वामित्व हटाने से जो लाभ होता है उसको नहीं समझता थोड़ी सी कच्ची रह गई बात हाँ जी संसार की वस्तुओं को अपनत्व बनाने में या स्वस्वामी संबंध जोड़ने में वो जितना लाभ देखता है उतना दूसरों के परोपकार के लिए या निष्काम कर्म करने के लिए अपनी वस्तु त्यागने में वो लाभ नहीं देखता त्यागने में अथवा वही स्वस्वामी संबंध को जोड़ो स्वस्वामी संबंध तोड़ने में वो लाभ नहीं देखता धनजी भाई कहेंगे ये स्वस्वामी संबंध क्या है <laughs> धनजी भाई कहते हैं ये परिवार मेरा है ये भूमि मेरी है ये बेटे पोते मेरे हैं ये है स्वस्वामी संबंध और धनी भाई कहते हैं ये परिवार ईश्वर का है ये भूमि ईश्वर की है ये बेटे पोते ईश्वर के ये है स्वस्वामी संबंध को तोड़ना अब तो समझ आ गया होगा धनजी भाई को माता जी आया समझ में आप परिवार को भूमि को बेटे पोते को आप किसका मानती हो अच्छा ये ये भूमि ये बेटे पोते ये ईश्वर के हैं आपके नहीं है अच्छा तो इसका मतलब है माता जी इसमें लाभ समझने लग गई तो आपको समझ में आया हाँ जी ये शरीर मेरा है ये इंद्रिया मेरी है ये विद्या मेरी है ये धन मेरा है ये भूमि मेरी है ये बेटे पोते मेरे हैं ये जो स्वामी बनना चाहता है मैं इनका मालिक हूं इसमें जो व्यक्ति लाभ समझता है उतना ये ईश्वर के हैं ये मेरे नहीं है इस संबंध के तोड़ने में उतना लाभ नहीं समझता अब तो समझ में आ गया होगा है क्या वास्तविकता सच्चाई सत्यता यह है कि ये भूमि ईश्वर की है ये धन संपत्ति ईश्वर की है ये शरीर ईश्वर का है ये इंद्रिया ईश्वर की है ये विद्या ईश्वर की है ये सोना चांदी ईश्वर का है ये बेटे पोते ईश्वर के हैं इसके समझने से व्यक्ति सफल होता है और अपना समझने में विफल होता है परिणाम ये फल ये निकलेगा इसका साधक चीज समझ में आया इधर रहते हैं कुछ तो कुछ बिगड़ता है वो है हमारा करके तो रहना पड़ता है हमारा हमारा करके सुधारना पड़ता है ना वो अपना हाँ ठीक है अपना कहने में दोष नहीं है अपना कहने में दोष कैसे नहीं है ये ब्रह्मचारी इस भवन को अपना कहते हैं इसका वो इनको मिला है अपना कहते हैं और अपना का मतलब है कि देखो ये अपने अधिकारियों ने बना के दिया वो इसके स्वामी हैं हम इसके रक्षक हैं हमें इसलिए हम इसके रक्षक हैं हम इसका उपयोग लेते हैं इसलिए ये हमारा है अर्थात हम गौण स्वामी हैं वस्तुओं के मुख्य स्वामी ईश्वर है हम उसके स्वामी ही पर गौण है धनजी भाई का अधिक समझ में आएगी ट्रस्ट की वस्तु है अपना न्यास है ना ट्रस्ट है ना अपना दर्शन हाँ, हाँ, अपना हाँ ट्रस्टी लोग हैं ये हिंदी में न्यास और न्यासी तो न्यासी लोग जो है न्यास की वस्तुओं की रक्षा करेंगे और कहेंगे हमारी है ये मेरी है पर वो न्यास की मानते हैं अपने वो गौण स्वामी है और न्यास उसका मुख्य स्वामी है गौण और मुख्य ईश्वर मुख्य स्वामी है हम उसके गौण स्वामी हैं इन्हें हम कहते हैं ये भूमि हमारी है ये धन हमारा है ऐसा कहने में कोई दोष नहीं आता जब हम कहते हैं तो ये मानते हैं ईश्वर इसका मुख्य स्वामी है ईश्वर ने हमको दी है हम इसके गौण रूप से स्वामी हैं इसलिए हमारी है हम इसका लाभ उठाते हैं हम इसके ऊपर सारे उपयोग करते हैं हमारे काम की चीज है इसकी रक्षा करते हैं तो हम गौण स्वामी हैं अब क्या समझ में आया क्या समझ में आया बोलो ईश्वर मालिक है वो हम्म। हमें देता है हम इसकी हम्म। रक्षा करते हैं इसलिए हम गौर स्वामी है ईश्वर हम्म। मुख्य स्वामी है ऐसा मानना है ये संतुलन जिसको बनाना आ गया वो व्यक्ति सफल है इसको ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहिए ये कहना कि ये ईश्वर इनका प्रमुख स्वामी है ईश्वर ने बनाई है ईश्वर इनकी रक्षा करता है इसलिए मैं इनका स्वामी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा इनको बिगड़ने दो इनको उजड़ने दो नष्ट होने दो कोई ले जाए ऐसा जोड़ देना मूर्खता की बात ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अब कुछ समझ आया नहीं आया ऐसा जो लोग कर देते हैं वो संतुलन उनका बिगड़ गया समझ वो संतुलित व्यवहार नहीं जानते जो ये मानते हैं शरीर से क्या करना शरीर का नाश होने वाला है ये तो मिट्टी पड़ी है इसके क्या लेने देना मरने दो इसको खा के क्या करना है बलवान बन के क्या करना है पड़ा रहने दो हमारा है ही कुछ नहीं ये है सारी मूर्खता की बात <laughs> संतुलन आया समझ में नहीं आया हम्म? एक बात व्यक्ति के जीवन को सफल बनाती है और एक बात उल्टी हो जाए तो वो विफल बना देगी क्या समझ में आया एक ही बात उचित बात व्यक्ति के जीवन को सफल बना देती है एक ही बात अनुचित बात अनुचित मान्यता व्यक्ति के जीवन को विफल कर देती इसी को लेते हैं हम ईश्वर इसका रचयिता है ईश्वर इसका रक्षक है ईश्वर इसका प्रलय करने वाला है सबका उत्पादक ईश्वर है ईश्वर ने हमको एक अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए वस्तुएं दी हैं ईश्वर की मान के चलना अपनी न मानना गौण में समझना ये मान्यता व्यक्ति के जीवन को सफल बनाती है एक बात और ईश्वर को स्वामी न मान के मुख्य स्वामी अपने आप को मानना यही मान्यता व्यक्ति के जीवन को विफल बनाती है एक ही मान्यता दस मान्यता आपके पास में सिद्धांत उनमें एक ये जोड़ दो नौ आपके ठीक है <laughs> एक ये जोड़ दो वो नौ आपके बेकार होने की स्थिति में चले जाए अब क्या समझ में आया बोलो हाँ जी संदीप जी सर हाँ दस दस मान्यता है आपकी दस अच्छी नौ अच्छी है और एक मान्यता ये जोड़ दो कि ईश्वर स्वामी नहीं मुख्य स्वामी मैं हूं इसको जोड़ दी तो नौ भी आपकी सफलता प्रदान जो मुख्य सफलता जो मुख्य सफलता है ईश्वर प्राप्ति साक्षात्कार वो नहीं कर पाएंगे एक ही मान्यता उल्टी कर दो वो आपको सफल नहीं होने देगी दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं आप एक व्यक्ति ने यह मान लिया कि सत्य से लाभ होता है सत्य की जीत होती है उसने ये मान्यता बदली कि सत्य की जीत होती है एक पक्ष और ये कहता नहीं झूठ से लाभ होता है उसने जहां जहां लाभ होता है झूठ बोलता है झूठ लिखता है अर्थात एक झूठ बोलने के सिद्धांत को स्वीकार करने से जीवन विफल होता है एक सत्य ही से जीत होती है इसको मान्यता बनाने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है इससे समझ सकते हैं अब सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने के पश्चात एक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होता है उसमें जो सत्य है उसको ग्रहण कर लेता है वो असत्य जो है उसको छोड़ देता कुछ सत्य असत्य ऐसे होते हैं जो जल्दी छूट जाते हैं अर्थात कुछ सत्य जल्दी पकड़ा जाता है और कुछ सत्य देर में पकड़ा जाता है कुछ असत्य शीघ्र छोड़ दिया जाता है कुछ देर में छूटता है क्या समझ में आया कुछ सत्य ऐसा होता है जो शीघ्र ही पकड़ लेते हैं कुछ असत्य ऐसा होता है जो शीघ्र ही छोड़ देते मोटे रूप और कुछ सत्य ऐसा होता है वो बहुत लंबे काल में आचरण में आ पाता है कुछ असत्य ऐसा होता है बहुत लंबे काल में उसका त्याग हो पाता है परंतु दो स्थिति जो जितना हो सकता है असत्य को छोड़ दो और जितना हो सकता है सत्य को पकड़ दो आज वो पूरा असत्य छूट नहीं रहा है पूरा सत्य ग्रहण हो नहीं रहा है उसके लिए जितना भी बल है शक्ति है वो पूरी लगा दे बस ये स्थिति यदि आप उस जो सत्य पकड़ा नहीं जा रहे आप उसके लिए पूरा पकड़ने में बल नहीं लगाते तो विफल हो जाओगे आप जो सत्य असत्य आज छूट नहीं रहा है उसके छोड़ने में पूरा बल आप नहीं लगाएंगे तो विफल हो जाएंगे एक मैं दृष्टांत देता हूं आप ये मान के चलिए मन में सत्य क्या था सत्य ये था कि ऋषियों ने कहा इन पांच इंद्रियों के भोग भोगने से व्यक्ति कभी भी कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर सकता कभी भी कोई व्यक्ति समस्त दुखों से छूट नहीं सकता और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता क्या कहा ऋषियों ने पांच इंद्रियों के भोग से भोगते भोगते कोई भी व्यक्ति समस्त दुख से छूट नहीं सकता और नित्य आनंद को प्राप्त कर नहीं सकता ऐसा है ये सुना आपने ये पढ़ा आपने पर आप आज उसको करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं परिश्रम करते हैं फिर वो मन में आ जाता है फिर परिश्रम करते हैं या नहीं होता आजा होता नहीं होता परिश्रम करते हैं फिर वो मन में आ जाता है नहीं किंतु ले आते हो माता जी कम समझ पाई होगी आ नहीं जाता हम ले आते धनजी भाई को मैं कहूँ ध्यान के समय आधा पौन घंटा बैठो ट्रस्ट की बात याद में किया कर कहते जी आ जाती हम धनजी भाई को कहते नहीं आ नहीं जाती धनजी भाई ले आती दोनों मंत्र अच्छा जो ये मानेंगे हम ले आते हैं तो उसको छोड़ सकेंगे हम और ये मानेंगे स्वयं आ जाता है तो फिर उससे छुटकारा नहीं नहीं छोड़ पाएंगे बिजली का पंखा चलता उनका पंखा चल रहा नहीं नहीं आपने चला रखा बंद करना चाहते ठंड लग रही है उसने कहा आप ये मत मानो उस पंखा स्वयं चल रहा है आप ये मानो पंखे को मैंने बटन दबा के चला रखा है यदि आप ये मानेंगे तो बटन को उल्टा कर देंगे बंद हो जाएगा और ये मानेंगे स्वतः चल रहा है तो बटन को बंद ही नहीं करेंगे तो पंखा भी बंद ही नहीं होगा <laughs> दृष्टांत आया समझ में एक मान्यता से कैसे जीतता है एक मान्यता से उल्टी से कैसे हारता है